हरसि राम भेट हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान वैद्य तब की उपाय बैठे लक्ष्मण हर साई हृदयलाय प्रभु भेट भ्राता से सकल भालुक भ्राता कपिपुन वैद तहाँ पहुँचावा देह विधि तब श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे यह वृत्तांत दसानन सुनऊ अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनऊ व्याकुल करण पहियावा विविध जतन करिता ही जगावा जागा निशर देखिय कैसा मानहु कालु देह धरि बैसा कुंभकर्ण बोझा कहु भाई काहे तव मुख रहे सुखाई यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीट लिया वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया कुंभकर्ण जगा उठ बैठा वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो कुंभकर्ण ने पूछा हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं कथा कहे सब तहे अभिमानी यही प्रकार सीता हरि आने तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे दुर्मुख सुर रिपु मनु जय हारे भटयति काय कंपन भारी अपर महोदर आदि कबीरा हरे समर महि सबरन धीरा उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही फिर कहा हे तात वानरों ने सब राक्षस मार डाले बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला अरे मूर्ख जगत जन्य जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है भलन न तैन से चरना था अब मोहि आये जगाए शिका अजहुतात त्यागी अभिमाना भजहु राम हो यही कल्याण है दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुम से पायक है दश शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक अह बंधु तय किन्ह प्रथम ही मोहि न सु नाय सियाए हे राक्षस राज तूने अच्छा नहीं किया अब आकर मुझे क्या जगाया हे तात अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा हे रावण जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं हाय भाई तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया किन्हेव प्रभुवि रोधत ही देवक शिव बिरंति सुर जाके सेवक नारद मुनि मोहे ज्ञान जो कहा कहते तो ही समय निर्बहा अब भरियंक भेटु मोहि भाई लोचन सुफल करो मैं जाए श्याम गात सरी सिरूह लोचन देखो जाए पाप त्रय मोचन हे स्वामी तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता पर अब तो समय जाता रहा हे भाई अब तो हे भाई अब तो अंतिम बार अखबार भर कर मुझसे मिल ले मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं राम रूप गुण सुमिरत मगन भय छन एक रावण मागे कोटि घट मदयरु महेश श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया फिर रावण को करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भय से मंगवाए महिष खाए